कैसे छोड़ सकते इस सृष्टि में जितने भी पैदा हुए उन सबको माया छोड़ती ब्रह्मांड जी ने इस प्रकार बता शंकर जी ने भी कहा गर्व को जब देखा तब कहा कि ये माया बड़ी कठिन है भगवान उन्होंने भगवान को उनके भगवान कर भगवान की माया को प्रणाम कर दिया कि धन्य तुम्हारी माया गर्व को भी नहीं छोड़ा इस प्रकार की कहते हैं बड़ी प्रबल माया से प्राण में जारी जवाही अपर जीव के ही लेके माही अपर मैंने दूसरे दूसरे जीवों को तो किस गिनती में लेकिन गिनती और लोग साधारण जीव जो उसको अभिमान करे अरे साहब हमको क्या माया दे सकती अरे साहब हम उसको क्या कर सकते हैं इस प्रकार का अगर कोई समझे तो वो सब गिनती बात है तो एक तो ये जो ये मा, माया में पड़ करके जीव जो माया के चक्कर में पड़ा हुआ जिस प्रकार से जीव क्लेश पा रहा है उसको पहचान कर पाते हैं कि देखो हर कोई व्यक्ति इस सब ये कहते हैं कि किस, किसको ऐसा नहीं हुआ किसको नहीं ऐसा हुआ मैंने हर व्यक्ति अगर अपने अंदर देखे तो माया का ये कार्य उसके भीतर चल रहा है किसी न किसी रूप में उसे सब दिखाई देगा और उसे समझ में आ जाएगा कि अविद्या माया के अधीन हम भी है हमारे अंदर भी इस प्रकार की माया कार्य कर रही है और वो हमको छोड़ नहीं रही है माया का प्रभाव ये भी कि जब ये सब माया घेरती है तो ये आवरण का कार्य करती है फिर कोई व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा स्वरूप को देखे पहचाने तो बहुत मुश्किल बात असंभव हो जाएगा और कदाचित उसे समझ में भी आए कि हमें तो अपने आत्मस्वरूप का बोध हो रहा है हम साक्षी को जानते हैं आत्मा को जानते हैं तो जानता है माया दृष्टि तो करना नहीं माया उसका गर्दन दबाएगी और वो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित रह पावे चित्त वहां रह पावे रह नहीं पावे नरकट का चित्र को बाहर कर देंगे और फिर बाहर आकर के व्यक्ति फिर वही काम को आदमी झगड़े के साथ में पड़ जाएगा आया आजकल के फिर करने लगेगा बस उसकी फिर माई का काम चलेगा उसमें जो उसका चित्र परमात्मा में रुके रुकने नहीं देगी तो कहते अपर जीव के लेके मानी दूसरे की गिनती तो क्या व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड कहते हैं कि ये सारे संसार में ये माया की कटक सेना ये माया की बड़ी शक्तिशाली सेना जो सारे संसार में व्याप्त सारे संसार में जितने भी श्रेष्ठ जब ब्रह्मा जी से बता दिया वहां जहां से सबकी प्रारंभ हुई तो देवलोक आदि से लेकर के मृत लोक और पाताल लोक तक जहां भी जितने भी जीव है सारा उस माया के अधीन और सेनापति का अनावगत दंड कपट पाखंड और कहते हैं इसके सेनापति कौन कौन कि ये काम आदि के मैंने काम क्रोध लोग लोग मत मच्छर ये जो है उसके सेना छह ये बता दिए और दंड कपट पाखंड तीन ये बता दिए नौ सेना है सेना सेनापति है कि मैंने सेनापति बिना सेना जो कोई बड़ा सेनापति होता है हाँ? एक आदमी खड़ा कर दो तो आप सेनापति हो तो क्या हमारी कहाँ सेना है किसके सेनापति अरे भाई उसके पास आपको सेना भी नहीं चाहिए माने काम के साथ में फिर काम की सेना है क्रोध के साथ क्रोध की सेना है ये तो सब सेना करती दम है तो पुरुष की सेना है ये सब के सब सेना लिए हुए थे सेनापति है ये सब मैंने सेनापति के बता कहकर के बता दिया कि हमने इनके मुख्य मुख्य के नाम गिनाए हैं सैनिकों के नाम नहीं गिनाए हैं उनकी अब गिनती अपने आप कर लेना जैसे मान क्रोध सेनापति है हाँ तो उसकी सेना में कौन कौन भर्ती करेगा वो है हाँ, चिड़चिड़ाना आटे चेरी करना गड़बड़ाना कटुवचन ये सब जो है उसके जो है सैनिक होंगे वो जो उसकी सहायता करेंगे सर तब तक रोग युद्ध करेगा तब तक अपनी शक्ति दिखाएगा ये सब उसके साथ आएंगे निंदा करेगा हम्म, कटुवचन बोलेगा घृणा करेगा एक दृष्टि से देखेगा आंखें पड़ेगा नहीं कुछ करेगा तो आंखें घुमाएगा इधर उधर ये सब क्या अंग है उसे क्रोध के सब सैनिक तो इस प्रकार के सब सैनिकों को लेकर के सब सेना कथित सेना कभी काम आदत दंड कपट पाखंड दंड दंड के माने ये है कि जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा अपने आप को दिखाता है वो दंड है धर्म का आपको तो आचरण करता नहीं लेकिन धार्मिक बना दिखाई देता है आवरण इस प्रकार के ऊपर से बनाता है कि जैसे बड़ा धार्मिक है तो ये उसका दम ज्ञानमान तो है नहीं जानता पहनता तो, तो कुछ नहीं बातें ऐसे करता है जो सब जानता ये उसका दम है मैंने दम धन के लिए भी हो सकता है और और बातों के लिए भी हो सकता है ज्ञान के लिए भी दम होता है व्यक्ति को ज्ञान तो है नहीं समझता तो है नहीं लेकिन बताया कि मैं सब जानता हूँ ये ऐसे हो जाता ये ऐसे हो जाता ये ऐसे बनता ये ऐसे बनता ये ऐसी फैक्ट्रियाँ होती उसमें ये होता उसमें ऐसा करता और उसमें कहो जरा बना करके बड़ा सी कोई चीज दिखा दे रहे हो जानते हो तर्क नहीं सकते तो ये सब है व्यक्ति कपट के माने मन में कुछ है और करते कुछ और है बताते कुछ है होता कुछ है ये कपट है माने सत्य बात को छिपाना कपट है और पाखंड के माने क्या है हाँ, कि पाखंड के माने जो है व्यक्ति जो है अपने आप को ऐसा दिखावे कि जैसे कि वो हो बड़ा महान है ये दंड और पाखंड में थोड़ी थोड़ा अंतर है दंड में जो नहीं है उसके होने का व्यक्ति को अभिमान है दिखाता है और पाखंड में रूपरेखा बनाने की ज्यादा बात है कि अपना इस प्रकार का बनावे देश इस प्रकार का बनावे जिससे देख करके लोग धन न पड़े ये बात तो कहते हैं सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या शो की कहते हैं कि ये जो है वो भी ऐसी माया जिसका भी वर्णन किया इतनी प्रबल शक्तिशाली है सब जीवों को परेशान करने वाली है अब भाई अब आगे बात ये है कि है सो है अब इससे निस्तार कैसे हो छुटकारा कैसे हो अगली बात ये होनी चाहिए नहीं देश तो के अकेले इतने से तो काम नहीं चलता कि जीव की समस्या नारायण से दे रखा दे रखा तो दे रखा उसका उपचार क्या हो जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ स्वामी जी कहते हैं किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर देख करके बता दे कि तुमको फलाना फलाना रोग हो गया तुम्हें ये बिगड़ गया तुम्हें ये बिगड़ गया ऐसा ऐसा करके ये हो गया तुम्हारे हाथों में ऐसे हो गया तुम्हारे पेट में ऐसे हो गया लंग्स में ऐसा हो गया इस प्रकार से ऐसा बिगड़ गया इस प्रकार से बिगड़ गया ऐसा बिगड़ गया ठीक कैसे हो तो डॉक्टर कहे जिसके कोई इलाज नहीं तो फिर आपके डॉक्टर कोई इलाज नहीं कई <laughs> तो इलाज तो है इसका लेकिन दवा इंडिया में नहीं मिलती अमेरिका से मंगानी पड़ेगी आगे तो इलाज सब तब है डॉक्टर डॉक्टर तब जब रोग हो तो रोग का दवा दे इलाज करे सुधार उसमें हो तब तो डॉक्टर तो ये ऋषि मुनि अगर इतना बता दें तो सब जीवों को ये रोग हो गया है तो इतने मात्र से ऋषियों की कोई सार्थकता थोड़ी सिद्ध हो जाती अब ये भी बताएं कि सब रोग से जो पीड़ित संसार है इससे लोगों को छुटकारा कैसे हो तो अब वो कहते हैं कि देखो उसी की तरफ आते हैं के रघुवीर के और समझे मिथ्या स्वरूप अब दो बातें हैं एक बात तो ये माया भगवान की दासी बने परमात्मा इसका स्वामी है भगवान और वो उसके अधीन है जैसे स्वामी जो होता है उसका भक्त नौकर जो है उसके अधीन होता है जैसा स्वामी आदेश देगा वैसा उसे करना पड़ता है इसके माने ये दासी ही नौकरानी है और भगवान उसको जैसा आदेश देंगे वैसा ये करेगी अगर भगवान मना करते हैं इससे कि देखो तो हमारे भक्त को इस प्रकार परेशान मत करो तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते भगवान की आज्ञा माने इसलिए पहली बात तो भक्तों की दृष्टि से तो ये है कि ये भगवान जिसको माया जिसकी हरण कर ले वो माया से छूट गया है लेकिन भक्ति के अलावा ज्ञानी भी तो होते हैं उनको इस, माया संस्कार कहते हो कहते उनके लिए ये बात है जो समझे मिथ्या स्वरूप जब तक कि माया पर विचार न करो तब तक तो माया बड़ी प्रबल है अगर माया का विचार करने लगो और माया का आश्रय ढूंढने लगो तो माया क्यों उत्पन्न होती है माया का कारण क्या है ये कैसे परमात्मा क्या है उसकी शक्ति क्या है जगत उत्पन्न हुआ तो कैसे भ्रामक है नाम रूप मात्र है और इसमें तो ये सत्यता दिखाई देती है रूप में दिखाई देती है और उसमें आकर्षण क्यों दिखाई देता है उनका लालच क्यों लगता है कामना क्यों होती है ये सब विचार कर जाए तो उसको जहाँ विचार करेगा तो पता लगेगा तो सब मिथ्या है इसमें कुछ नहीं ज्ञानियों को ये माया जब मिथ्या दिखाई देने लगती तब छूटती है और जब तक माया मिथ्या नहीं दिखाई देती तब तक ज्ञानियों का निस्तार नहीं और भक्तों को ये माया तब तक नहीं छोड़ती जब तक भगवान उनको ऊपर पता नहीं मैंने भक्त जब भगवान की शरणागम हो उनके अधीन रहे और जिस प्रकार से परमात्मा रखे उस प्रकार से रहने को तैयार हो जाए तब ऐसे भक्त को भगवान अपना लेंगे कल भाई अब भी तो हमारे शरण में आ गया है विभीषण की तरह अब तो इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी इसलिए तो भगवान उसके माया से उसको छुड़ा अब दो तो मैं से जो उपासना किसी को एक आसान दिखाई देता किसी को दूसरा आसान दिखाई देता लेकिन कोई उसमें कुतर्क का कोई स्थान नहीं स्थान में महाराज झूठी कहने से खड़े होगी अरे झूठी जिसको झूठी दिखाई देती है उसके लिए उसी समझता है अरे कहते भगवान के संग में जाने से क्या होगा दूसरा बोलने लगे अरे विचार करना चाहिए तो वो भी गलत हुआ अरे भगवान के शरण में जाने से ही माया छूटेगी उनकी कृपा होगी तो छूट जाएगी और अगर विचार करने में समर्थ व्यक्ति होगा तो विचार करने से भी माया छूट जाएगी दो उपाय है माया से निस्तार का तीसरा उपाय नहीं है नहीं कह तो अनेक उपाय है हम भी अपना कोई उपाय ढूंढ लेंगे अरे ऐसे नहीं होता जो अपने उपाय ढूंढने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा इन्हीं में से कोई न कोई उपाय अपना अब छुट्टी छूट न राम कृपा भी नाथ कहा पद हो कि इसलिए जो वो कहते हैं कि हम पद रोक करके जैसे अंदर ने अपना पैर रोक दिया रावण के दरबार में ऐसे कहते मैं अपना पैर रोक करके कहता हूँ ये है बिल्कुल मैंने दृढ़ सहयोग करके कहना बड़ी बड़ी दृढ़ता के साथ में कहते हैं कहीं कहीं ये भी कहा जाता है दोनों हाथ उठा करके इस प्रकार से कहते हैं जैसे ब्यास जी कहते हैं कि धर्म क्या है तो क्या दोनों हाथ उठा करके ये कहते हैं कि अगर दूसरे को पूरा पहुंचाना यह धर्म है और दूसरे का उपकार करना ही धर्म है ये दोनों हाथ उठा करके हम दोनों हाथ उठा करना बिल्कुल पूरा निर्णय इस प्रकार ऐसे करके ये कहते हैं छूट भगवान कृपा हो भगवान की कृपा के बिना ये माया छूटती नहीं है ये हम पूरे विश्वास करते हैं अब कागुषण क्यों कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं तो अपना अनुभव बताते हैं कि हमारा अनुभव तो ये कि भाई माया कभी छूटती है भगवान की कृपा अपने जीवन का प्रभाव ये बता देंगे कैसे भगवान की कृपा हुई कैसे माया से इनका विस्तार हुआ ये सब अपने जीवन का अपना वर्णन करेंगे तो बताएंगे इस प्रकार भगवान की महिमा जो है वो भी बड़ी सुंदर है उसका भी थोड़ा जल्दी करना से जय